श्री सीताराम जी महाराज की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय श्री तुलसीदास जी महाराज की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर हर मा भगवत चरण कमलानुरागी बंधु मई माता श्रीधाम वृंदावन के रसिक्त वातावरण के बीच स्थित इस दिव्य आश्रम के आध्यात्मिक परिवेश में भगवान श्री राघवेंद्र की मंगलमयी कथा संत महापुरुषों के आशीर्वाद और श्री हनुमान जी महाराज की मंगलमयी करुणा और प्रेरणा के कारण हम लोग श्रवण करें उसके पूर्व बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन वाणी की शोभा ही श्री राम नाम है बड़े प्रेम से बोले